ु सुन्दरमुखादविन्दनेत्रा गृह्णा परम् किमपि तत्त्वमहम् न जानन् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति भगवानुवाच अभयं तत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं गमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्यवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेश्वरो लुप्तम् मार्दवम् श्रीरचापदम् तेजक्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधपादृश्यमेव च अज्ञानम् चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मातु च सम्पदम् दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम् पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिम् च विदुरासुरा न क्रोधम् नापि न सत्यम् तेषु विद्यते असत्यमवपेक्षणम् ये अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यत्कामहैतुकम् एताम् दृष्टिमवष्टव्यनसात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रितदुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा तद्राहान् प्रवर्तन्ते सुजीव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमम् प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्येतापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सुखी आयो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोदितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यदम्भे नाम यज्ञैस्ते दम्भेनादिपूर्वकम् अहङ्कारम् बलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् च संस्कृताः मामात्मपरदेहेषु प्रतिसन्तोऽभ्यसूयताः तानहं द्विषदा क्रूरां संसारेषु नराधमा ीकान्यरद्रह्मसुखानासुरीसेवयोनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामुकाप्येवमंसेव ततो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहारति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे नाम षोडशोऽध्यायः अथ अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजंते श्रद्धयानिता निता निष्ठा तो का कृष्ण सप्तमाहोरजस्तम श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा त्रिविधा श्रद्धा देहिनां सा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यस्य रक्षांसि राजताः रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहकार दम्भाहङ्कार संयुक्तः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्तवि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः प्रिया अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः तो मनः दंभार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ संयज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरु मन प्रसाद सौम्यम मौनमात्म निग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधम् नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकम् परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थम् तपो दम्भेन चैव यत् सत्कारमान तपो दम्भेन Gracias. क्रियते तदिह तदिह प्रोक्तम राजसंचलम अध्रुवम मूलग्राहेणात्मनो यीलया क्रियते तप परस्योत्सादनार्थम वा सत्ताम समुदाहृतम दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणी दातव्यमिति यद्दानं देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधु भावे च सदिते तत्र सद्भावे साधु भावे च प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं कर्म चैव तदर्थीयं श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तशोध्याय सप्तम चलेगा उत्तर श्लोक पूर्वार्ध तात्पर्य महा च वर्ग त्रय रूपेण भिन्ना आहार भिन्न है रस्य स्निग्ध वृक्ष तीन वर्ग करके यथाक्रम सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम यह क्रियते सात्विक पुरुष का प्रिय राजस पुरुष का तामस पुरुष का प्रिय आहार भिन्न भिन्न है ये दिखाते हैं रस्य स्निग्धादि आहार विशेष आत्म पुत्ति अतिरेक न न रस्य स्निग्धादि आहार विशेष में अपने प्रीति अतिरेक ये लिंग चिन्ह उससे अनुमान करना पड़ेगा अपने में क्या है सात्विक राजसत्वम तामसत्व तो बुद्ध समझ करेगा अपने में सात्विकत्व राजसत्व है तामसत्व है भोजन में प्रीति दे करके समझ करके रजस्तमो लिंगानाम आहाराणाम परिवर्जनार्थम जो चिन्ह है आहार रज तमगुण का चिन्ह है ऐसे आहार का त्याग करना चाहिए रजस तमो लिंगा नाम आहार नाम जो आहार रज गुण गुण का लिंग चिन्ह है उसका परिवर्जन त्याग करना चाहिए और सत्व लिंगा नाम से सत्व का जो लिंग है आहार चिन्ह है उनका उपादान ग्रहण करने के लिए तथा यज्ञादि नाम अपनी सत्व आदि गुण भेदन त्रिविधत्व प्रतिपादन में है यज्ञादि का भी त्रिविधत्व प्रतिपादन किया जाता है सत्वादि गुणभेद में सत्व रजस्तम गुणभेद से क्यों करते है राजस तामसान बुद्धवा कथम नाम परित्यजित राजस्व तामस यज्ञ आदि को समझ करके त्याग करे साधक सात्विकान एव अनुतिष्ठ तो सात्विक यज्ञ आदि तामसान करे इति एवं अर्थम आहत इसके लिए कहते भगवान आहारस्पति सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु सर्वस्य आहारस्वपि त्रिविध प्रिय होती तथा यज्ञ सप दानम दानम त्रिविध हो तेषा भेदम इमाम सुनो उनका भेद सबका आहार तीन प्रकार प्रिय होता है यज्ञ भी तप भी दान भी तीन प्रकार सत्वर जो समय गुण भेद उसका भेद कहते सुनो टीका में रस्यादि वर्ग से सात्विक पुरुष प्रियतम आगे कहेंगे रस्या स्निधादि सात्विक पुरुष का प्रिय कटुआदि वर्ग कटु अमल इत्यादि राजस्व पुरुष का प्रिय यातयाम आदि वर्ग वर्ग समूह है तामस व्यक्ति का प्रिय किसी दर्शनम उपयोग थे कहाँ उपयोग होता है तो इसलिए कहा रस्य स्निधादि आहार विशेष प्रीति अतिरिक्त लिंग से सात्विक तो राजस्व समझ करके त्याग करना है रजतम लिंग का आरग श्लोक श्लोक उत्तरार्ध तात्पर्य तथा उत्तरार्ध यज्ञ आदि है तथा यज्ञ आदि नाम अपनी सत्वादि गुण भी स्वीकृत है आहार त्रैविध्यवत इतिहास तथा कार्य जैसे आहार तीन प्रकार यज्ञ दान तप भी तीन तीन प्रकार है सत्व रजतम गुण भेद कथम एक प्रत्येकम त्रैविध्यम प्रत्येक तीन तीन प्रकार के थे तथा तेषा तेषा नाम भेदम इम वक्षमाण ये कहेंगे आहार आहार भी सर्वस्व सर्वस्व भुक्त भोक्ता की त्रिविध भगवती प्रिय तीन प्रकार प्रिय मतलब इष्ट है तथा यज्ञ तथा तपस तथा दान यज्ञ तथा तपस तथा दान तेसाम तेषा आहारादिना भेदम इम वक्षमाण आहारादि का भेद किस प्रकार तीन प्रकार है अभी कहते हैं सुनो आयु सत्बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना आयु सत्बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया स्निग्धा स्थिरा हृद्या सुख प्रीति विवर्धना आयु को बढ़ाने वाले जीवन को सत्व को उत्साह को बढ़ाने वाले बल शक्ति को बढ़ाने वाले आरोग्य रोग रहित को बढ़ाने वाले सुख को बढ़ाने वाले प्रीति रुचि को बढ़ाने वाले रस्य रसयुक्त स्निग्ध कोमल चिकन स्थिर स्थायी रहने वाले बहुत उसका फल देने वाले हृदय हृदय के लिए प्रिय तो आहार सात्विक प्रिय ऐसे आहार सात्विक पुरुष के प्रिय टीका में आयुर्जीवनम सप्तम चित्तस्थर्य चित्त स्थिरता उसका वीरियम व सामर्थ्य बलम कार्यकरण सामर्थ्य शक्ति बल कार्यकरण सर्वेन्द्र का आरोग्य निरोगता सुखम अंतराह्लाद हित है परेशान अपनी संपन्ना नाम दर्शनाथ परम हर्ष इसी अन्य कवि प्राप्त होने पर अत्यंत हर्ष है ये प्रीति रुचि साहसाम विवर्धना से बढ़ाने वाले आयुष्च सत्वम च बलम च आरोग्यम च सुखम च प्रीति च साहसाम विवर्धना आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना तेज रस्या रस्या का तो था रसोपे का रसोयुक्ता टीका में रसयितव्या तो सरसा रस वाले स्निग्धा स्नेहवंत चिकन वाले तैलभूत वाले चिरा चिरकाल स्थायी न देह में चिरकाल रहेंगे देह चिरकाल स्थायी तुम चिरतरम शरीर उपकार हेतु तुम शरीर के उपकार हेतु होना नहीं कि जो जीर्ण नहीं होगा इतना शुद्ध गाय के घृत आदि ये चिरकार उपकार ऐसे खाद्य पदार्थ है जो आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया दीर्घ काल सर्व में उपकार करने वाला हृदय हृदय प्रिय आहारा सात्विक प्रिय सात्विक पुरुष के इष्ट है तो, धनत्यात्मिका क्रियाहृदया आहारः सात्विकप्रिया कत्वं ललवणा कृष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः कत्वं ललवणा कृष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः कत्वं ललवणा कृष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ये अति कट्टु अम्ला लवण अति उष्ण जो अति शब्द है सब के साथ जोना अति कट्टु अति अम्ल अति लवण अति उष्ण अति तीक्षण अति रुक्ष अति विदाहीन सब के साथ जोना तो कटु है नीम का जैसे कटु है तिक्त अम्ल है कटा लवण अति उष्ण और तीक्ष्ण है मृत्यादि का तीक्ष्ण है वृक्ष है वृक्ष है स्नेह का विदा है न कष्ट देने वाले संताप देने वाले ये राजस्य से पुरुष से प्रिय आहार जो कि दुख शोक आमय प्रदा दुख देने वाले शोक और आमय रोग देने वाले भाष्य कस्तूर अम्लो लवणो अति उष्ण अति शब्द आदि से सर्वत्र योग्य सबके साथ जोड़ना अति कटु अति तीक्षण इतम सबके साथ अति जोड़ना एवं कटु अम्ल लवणा तूष्ण तीक्षण रूप से विदाय न आहारा राजस्व से इच्छा दुख सुखामय प्रदा दुखम च शोकम च आमय च प्रयुक्ति दुख सुखामय प्रदा टीका में कटु है तिक्त कटुक से तीक्षण शब्द नुप्तवाद कटु शब्द दोनों में प्रयोग होता है तिक्त नीम के तिक्त के लिए कटु कहते हैं मिर्ची के लिए कटु कहते हैं किन्तु कटु को जो मिर्ची के लिए तीक्ष्ण शब्द से कहा गया इसलिए कटु शब्द से यहाँ तिक्त लेना नियम के कटु का तीक्ष्ण शब्द नहीं सकता वृक्ष ही विस्नेह स्नेह रहता विदा ही संताप देने वाले ग्रहण करने वाले अति शब्द से सर्वत्र योजन में अभिनयती अति कटु अति अमृत दुख शोकामय प्रदा दुखम तात्कालिक पीड़ा शोक इष्ट वियोगजन दुखम शोक ये शोक तो भी दुख है इष्ट वियोगजन सुख आमय रोग है ये देने वाले राजस्व आहार राजस व्यक्ति के प्रिय है अति तीक्ष्ण मरीचादि होते हैं वृक्ष होता है स्नेह कंगु कोद्रवादि का अति संकल्प राज्य राजिका आदि ये सब विभिन्न खाद्य ले गया अष्टपादी को भी अति विधायी अष्टपादी करता अति शब्द देने से कृष्ण सरसव काला सरसव को कहा अति विदाही तामस प्रियम आहारम उदाहरत तामस व्यक्ति के प्रिय आहार यातयामंगतरसम पूति पर्युषित उच्छिष्टमपि चामेभ्यं भोजनं तामस प्रियम यातयामंगतरसं पूति पर्युषित यातयामम क्या जो पूरा पक्का नहीं यातयामम यातन समग्र शब्द का अर्थ से है याम प्रहर भी दिख गया किन्तु यहाँ अर्थ करेंगे यातयाम का अर्थ अल्प पक्ष मंद पक्ष गतरसम जिसका रस नष्ट हो गया पूति सड़ गया पूति परिचितम दुर्गंध वाला परिचित है जिसको बाकी कहते रात्रि के वही तो हो गया उसी परिचितम चयत उच्छिष्टम भोजन की शिष्ट होता अपिच अमेध्यम मेध्य होता है शुद्ध यज्ञ आदि के लिए योग्य अमेध्य होता है यज्ञ के लिए योग्य जो यज्ञ आदि में देव जाने में में एक खाद्य अमेध्य अपेदित ये तामस व्यक्ति के प्रिय भोजन है यातयानों का अर्थ क्या मंद पक्वम टीका में ननु निर्वीरियम यातयाम उच्यते जिसका वीर्य नहीं उसको यातयाम कहते न पुनः तामी पक्वम तामी का अर्ध पक्व कैसे अर्थ क्या यदि संक्रांत से नेत्या निर्वीर्य गतरस्थ ने उक्त गतरस से निर्वीर्य कह दिया जैसे यातयाम शब्द से गतरस निर्वीर्य नहीं लेकर के मंद पक्व करना गतरसन का अर्थ सभी उत्तम पूत है दुर्गंधी परिचितम पक्वम सद रात्रि अंतरितम पकाने का तो रात्रि के बाद राशि हो गया परिचितम यदि उच्चिष्टम अपिच भुक्त शिष्टम क्या करे कुछ बचा झोका अमेध्यम अयोग्य आ आरहण यज्ञ के लिए यज्ञ नहीं देव पूजा के लिए यज्ञ नहीं अपवित्र भोजन में विषम तामस का प्रिय है तो, उसी दुर्गंधि में लहसुन प्याज आदि लिया और जो तेल घी से पकाते हैं उसमें वासी नहीं होती अन्नम परिचितम भोजन स्नेहातम चिर संस्कृतम याज्ञ लड़के ने कहा यदि भुक्त पहला आदि से भुगते है तो रात्रि अंतरित होने पर भी वो बाकी नहीं अन्य चीज बाकी है टीका में खानादानार्थम आहार त्रैविध्यम एवं विपत्य सात्विक भोजन आदान के लिए राग से तामस खान त्याग करने के लिए परिभोजन के लिए कहा गया आहार त्रैविध्य कह करके विवाह करके क्रमेण प्राप्त क्रम प्राप्त यज्ञ त्रैविध्यम कथय यज्ञ में तीन प्रकार कहते अथ इधानी यज्ञ त्रिविध उच्च तीन प्रकार यज्ञ कहते तथा सात्विकम यज्ञ ज्ञापय प्रथम सात्विक यज्ञ को अफलाकांक्षी भी है फलाकांक्षी होते फल इच्छा करने वाले तो फला इच्छा नहीं करने वाले कर्म फल इच्छा नहीं करते हुए विधि दुष्ट यज्ञ यज्ञ विधिना दुष्ट विधिवासी के द्वारा कहा गया ये कर्म किया जाता है यस्तव्यम एवं मन समाधान मन को एकाग्र करके यस्तव्यम याग मम कर्तव्य इस बुद्धि से किया जाता है किसी उद्देश्य से स यज्ञ सात्विक है टीका भाष्य में अफलाकांक्षी भी अफलार्थी भी फलार्थी नहीं है यज्ञ विधि दुष्ट शास्त्र चोदना दुष्ट शास्त्र विधि के द्वारा निश्चित है ये यज्ञ इज्जत इज्जत का या क्या जाते निर्वर्त संपाद्य से इस अभिप्राय से यस्तव्य में याग करना कर्तव्य इसी दृष्टि यज्ञ स्वरूप निर्वर्तन एव कार्य यदि समाधान यज्ञ स्वरूप करना ही है कर्तव्य मेरा इसी दृष्टि से मनो समाधाय मन समाधान एकाग्र करके नानेन पुरुषार्थ में कर्तव्य इसे वो निश्चित है तो पुरुषार्थ के लिए फल के नहीं ये मेरा कर्तव्य इसी दृष्टि से निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है तथास्ती को यज्ञ कहा गया नहीं फलादि फलाभिसंधि बिना यज्ञ स्वरूप में भाद्य में बुद्धि फल इच्छा के बिना यज्ञ स्वरूप करना ही है इसी बुद्धि से शास्त्र तो अनुष्ठ्यमान यज्ञ सात्विक शास्त्र प्रमाण से जैसे कहा गया तो कर्तव्य बुद्धि से अनुष्ठान किया जाता है फल इच्छा के बिना ये सात्विक है ओम राजसम यज्ञ हानार्थम दसे राजस्व यज्ञ दिखाते त्याग करने के लिए अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् विद्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिराजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् विद्यते भरतश्रेष्ठ स्वर्ग आदि फल की इच्छा करके जो कर्म किया जाता है और ब्रह्मार्थों भी चाहिए धर्म ध्वज को तो स्थापन करने के लिए मैं धार्मिक हूँ ऐसे स्थापन करने के लिए अंतगण शुद्धि के लिए नहीं परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं लोग हमको धार्मिक कहेंगे अथवा स्वर्ग आदि फल इच्छा करके जो कर्म किया जाता है यज्ञ से निर्वर्तित यज्ञ किया जाता है कम तो यज्ञ राजसम विधि उसको राजस्व समझे अभिसंध्याय का तो उद्देश्य फलम फल उद्देश्य करके ब्रह्मार्थम एवं यदिज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्य राजसम राजसम का तो रजोगुण निर्वर्त्य रजोगुण से संपन्न होता है यज्ञ राजसम जान टीका में स्वर्गादि उद्देश्य धार्मिक तो स्थापनार्थम च एक स्वर्गादि उद्देश्य कर करना अभिसंध्याय फल और धार्मिक प्रस्थापनार्थ ब्रह्मार्थम अपने यदि यजनम कहते तम यज्ञम रजस्थान तो, तो रजगुण से संपन्न होता है त्याज्यम अवगत तो उसको त्याग करना चाहिए इसे कर्म नहीं फल उद्देश्य करके धार्मिक प्रस्थापन के लिए कर्म नहीं कर्तव्य बुद्धा करना चाहिए ये राजस्व त्याग करने के लिए कहा गया विधिहीनम विधि विधान को छोड़ करके अश्रिष्टानम अश्रिष्टम अन्नम यस्मिन एक त्यक्त ब्राह्मण आदि के लिए अन्न दान करना होता है यज्ञ करके वो नहीं किया गया मंत्रहीनम मंत्र स्वर वर्ण रहित ऐसे ही कर्म किया जाता है अदक्षिणम जो दक्षिणा अविद्यमान दक्षिणा यशमिन यति तदक्षिण अदक्षिणा दक्षिणा जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे देनी चाहिए ऐसे दक्षिणा जब नहीं देने तदक्षिणा तो हुआ श्रद्धा विरहितम यज्ञ तामसम परिचित उसको तामस कहते हैं श्रद्धा रहित अश्रद्धा से किया गया कर्म तामस रहस्य में यथा चोदित विधि विपरीतम जैसे विधि तो विधि उससे विपरीत विधि को छोड़ करके मन से कुछ करता अन्नम ब्राह्मण जो न सिस्टम न दत्तम अन्नम यत्न यज्ञ तो अस्तित्व न यज्ञ अस्तित्व अन्नम यत्न यज्ञ ये जब विसर्ग दान क्या देता है अन्नदान करना चाहिए ब्राह्मणों को ब्राह्मण जो न सत्ता न दत्तम अन्नम अन्नदान नहीं किया गया इसी यज्ञ में तो अस्तित्व अन्न अशिष्टान यज्ञ तम अशिष्टान द्वितीय और न मंत्र से रहित केवल मंत्र स्वर तो वर्ण मंत्र प्रयोग करने से स्वर युक्त और वर्ण से उच्चारण ठीक होना चाहिए उसके बिना जो किया जाता है वो काम है मंत्रहीनम अदक्षिणम उक्त दक्षिणा रहितम जो दक्षिणा गई उस दक्षिणा से रहित कर्म श्रद्धा भी रहितम यज्ञ श्रद्धा के बिना भी किया जाता है तामसम परिचक्षते ताम से तमो निर्वृतम परिचक्षते कहते हैं कथयंती प्रमाण को कुशल सात्विकादि भाव निरूपयितुम सर्वस्व तपस्व स्वरूपम प्रेरितम निरूपयित तात्विक अधिभाव निरूपण करने के लिए सब तप का स्वरूप ही तीन प्रकार कथन करते अत इधानी तपस त्रिविधम उच्यते तीन प्रकार तप है कहते तथा शारीरम तपो निर्दिशति शरीर निर्वर्त निर्वर्त्यम शारीरम तप कथन करते हैं शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा ये शारीरिक तप है अर्थ है देवाश्च द्विजाश्च गुरु प्राज्ञा द्वंद समास तेषाम पूजन देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजन शौचम आर्जवम आर्जव विद्युत सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा शरीर निर्वर्त्यम शारीरम शरीर प्रधान ही सर्वे कार्य करने ही शरीर से केवल नहीं होगा सर्वे प्रधान तो कार्य कर्ण कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय कर्तादि कर्तादि के द्वारा अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम तो पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवते स्वतंत्र शरीर वांग मनोभियत कर्म प्रारभ प्रारभते नर न्याय व विपरीत व पंचेत तस्ते तब ये कहेंगे शरीर आदि के द्वारा होते हैं कर्तराधि साध्यम शार्यम पंचे पंचेत तस्हेत वक्ष्यति कहेंगे पांच शरीरवांग मनोबीज कर्म का अधिष्ठान कर्ता कर्ण देव ये सब मिल करके कर्म होते हैं सर्व जिसमें प्रधान उसको सार्य कहा टीका में देव द्विज गुरु के में देव कौन ब्रह्म विष्णु शिवादय देव देव क्या के द्विज बीज है ब्राह्मण सूर्य सूर्य स्व बीजोत्तम बीजा नाम उत्तम बीज में ब्राह्मण क्षत्र वैसे आते हैं जिनका यज्ञ भी तो संस्कार होता है उनमें श्रेष्ठ है ब्राह्मण और सूर्यों का भी सूर्य है उनको भूसुर पृथ्वी ने देव तुल्य कहा गुरु वह पित्रादे ये सब गुरु शब्द सुना पिता माता आदि तो गुरुजन जिसको कहते प्राज्ञा पंडिता विदित वेदितव्य विदितम विदितव्यम यही ज्ञेय को जिसने जान लिया और विदित विदितव्य पंडित हुई पंडित विद्वान ज्ञान पूजन कैसे प्रणाम शुश्रूषा प्रणाम सेवा आदि यही उनका पूजन है शौचम मृगजलाभ्याम शरीर शोधनम शौच शरीर का शोधन मृगजलाभ्याम आर्जवम रिजित्व सरलता विहित प्रतिषिध एक रूप प्रवृत्ति निवृत्ति मतम एक विहित में प्रवृत्ति प्रतिषिध से निवृत्ति एक रूप विहित है तो प्रवृत्ति प्रतिषिध निवृत्ति समान है ये सरलता ब्रह्मचर्य मैथुना समाचरण मैथुन से असमाचरण अहिंसा प्राणी नाम अपीडनम प्राणियों की पीड़ा हिंसा उसके विपरीत अहिंसा चकार दिया अहिंसा चकार से अस्थि आदि भी लेना से उसका अभाव कथम पर्द्रादि साध्य शरीर मात्र निवर्तित्व अत्य तपस्व न संभवती मत्वा विषय नस्ती ये जो तपे शरीर मात्र निवर्तित्व नहीं हुआ शरीर मात्र निवृत्तम अक्ष तपस्व न संभवती न सुटिका न संभवती के मत्वा विषय शरीर मात्र से तो नहीं होगा इसलिए कहते शारीर प्रधान शारीर का अर्थ क्या है शरीर प्रधान ही सर्वे कार्य करने शरीर सबसे होगा जिसमें सर्व प्रधान है कथम कर्तरादि साध्यते तथा शारीरत्व शारीरत्व कथम कर्तरादि साध्यतम यदि कर्ता कर्ण दैव अधिष्ठापित देवता ये सब लेंगे शरीर लेंगे तो फिर शारीर केवल होगा कैसे कर्तरादि साध्य होगा अभी शरीर से होता है तो कर्तरादि साध्य कैसे होगा इसका शंका कम से कहते पंचेत तथ्य हेतु तो वही थे आगे कहेंगे जितने कर्म होते हैं तो पांच उसका हेतु है अधिष्ठान करता है जीव अधिष्ठान सर्व कर्ण इंद्रिय और विविधा चेष्टा इंद्रिय और से देवता देव से व्यापरित इसे मिलकर के पांच प्रकार पांच मिलकर कर्म होते हैं इसे सर्व प्रधान है तो संप्रति वांगमय तपम जप तपो व्यपदिशत तपस्व सकार वांगमय तप कथन करते अनुद्वेगकर वाक्यम सत्यम प्रियहित चेत ऐसे स्वाध्यावसन तो वाक्य किसको दुख देता है उद्वेग कर वाक्य होता है न उद्वेग कर्म के अनुद्वेग कर वाक्य जिसको दुख नहीं किसको दुख नहीं दे सत्यम प्रिय हितम प्रिय हो और हित हो सत्य हो स्वाध्यायाभ्यसन अपने शाखा आदि अध्ययन करना अभ्यास करना ये वांग में तक है अनुद्वेग करम प्राणी नाम अदुख करम वाक्यम दुख करम सत्यम प्रिय हितम से सत्यम यथा दृष्टार्थ वचन जैसे दिखा ऐसे कथन करना सत्य अब प्रिय कैसे श्रुति सुखम सुनने के लिए अच्छा लग गया तो प्रिय हो हितम परिणाम पक्षम परिणाम से भी पक्ष हित होना चाहिए ये हित है सुनने के लिए अच्छा लगे कि परिणाम ठीक नहीं तो सत्य नहीं हुआ प्रिय हित नहीं हुआ प्रिय हो और हित हो प्रिय हित और विधांतरण विभाग हमारा प्रिय और हित को अन्य प्रकार विभाग करते प्रिय हित दिष्टा दिष्टार थे दिष्ट के लिए प्रिय अदृष्ट के लिए हित जो अदृष्ट फल देने वाला वो हित है और जो दुष्ट है वो प्रिय एक व्यक्त कर सकते कथम अत्र विशेषण विशेषत्व तदा अनुद्वेग कर वाक्य सत्य हो प्रिय हित हो इसमें कैसे विशेषण विशेष है ऐसे कहते अनुद्वेग करत्वादिर धर्मेर वाक्यम विशेष वाक्य विशेष उसका विशेषण अनुद्वेग करम सत्यम प्रियहिता ये विशेषण विशेषणानाम अनुद्वेग करत्वादिनाम विशेष्येण विशेषण में विशेष्यम इसका तृतीयांत विशेष्येण वाक्य वाक्य विशेष्य विशेष वाक्य के साथ समुदिता नाम सब विशेषण का अन्वय होगा परस्परम अपनी समुचय समुचय देती चकार परस्पर समुचय भी होगी चकार विशेषण धर्म समुचयार्थ शब्द सत्यम प्रिय हितम दिया है विशेषण धर्म का भी समुचय होगा विशेष के साथ सब विशेषण का सामने है परस्पर भी समुचय है किमित वाक्यम एक विशेष्य किमित व तेषा मित्र समुचय तत्र सब विशेषण का विशेष हो गया वाक्य वाक्य क्यों विशेष है और विशेषणों का तो विशेष के साथ अन्य होगा परस्पर समुचय क्यों होगा कैसे होगा तत्र पर प्रत्यायनार्थम सात देखो आठ की पर प्रत्यायनार्थम प्रत्यायनार्थम पर को ज्ञान कराने के लिए ही प्रयुक्त से वाक्य प्रत्यायन पर को ज्ञान बोधन करने के लिए प्रयुक्त होता है वाक्य वो वाक्य कैसे होना चाहिए सत्य प्रिय हिता अनुद्वेग कर सत्यत्व प्रियत्व हितत्व अनुद्वेग करत्व चार विशेषण है चारों में से कोई एक विशेषण यदि नहीं रहेगा तो वहाँ तपभांग में तप नहीं होगा अन्य कमेन एक के अभाव हो अर्थात दो के अभाव हो द्वाभ्याम तीन के अभाव हो या सद यदि न तदवांग में तप जो वाक्य सत्य भी हो प्रिय हो हित हो और अनुद्वेक हो सभी वांग में तप चार में से एक नहीं है दो नहीं है तीन नहीं और चार नहीं तो गया तो वांग में तप नहीं होगा यद्यपि वाक्य मात्र अविशेषित वांगमय तपस्व अनुपति विशेषण रहित तो केवल वाक्य तो वांगमय तथा नहीं तथा सत्य वाक्य से अभाव अभावित वांगमय तपस्व पूर्व की शंका करता है जो सत्य वाक्य है अन्य कोई विशेषण नहीं हो तो भी वांग्मय तप होना चाहिए क्योंकि हम सत्य बोलते हैं कोई बोलते हैं हम सत्य बोलते हैं किसको कष्ट दो हो हम बोलते कहते स्वदेश ईसा नहीं सत्य होने पर भी अत्यंत सत्य हो फिर भी जब ये विशेषण नहीं है तो वांग में तपन ही होगा क्या क्या विशेषण अनुद्वेय करत्व प्रियत्व हितत्व ये भी विशेषण तीनों होना चाहिए तथा भाषण में तथा सत्य वाक्य से जो सत्य वाक्य है उसमें भी इतर स्थान अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिवीर है बाकी जो तीन रहे उनमें से कोई एक रहे अभाव हुआ दो का अभाव हुआ तीनों का अभाव हो गया सत्य हो और तीनों नहीं अनुद्वेगत्व नहीं सूर्यत्व नहीं हितत्व नहीं सत्य होने पर भी अवांग में तपा नहीं होगा सत्य होने पर भी उसमें अनुद्वेगत्व हो वियत्व हो हितत्व हो ऐसे वो शब्द वाक्य प्रयोग करना चाहिए आगे पाठ छोटा है तथा प्रिय वाक्य मात्र से तथा तुम चाद इका संख्या तथा प्रिय जो प्रिय वाक्य है वो वांग में तप हो जाएगा ऐसा शंका कर कहते नहीं तथा भाष्य में तथा प्रिय वाक्य से आती प्रिय वाक्य होने पर भी सत्य होना चाहिए अनुविवेकर होना चाहिए हित भी होना चाहिए तब तो वांग में तप होगा नहीं तो इतर शाम वाक्य अन्य में से अन्य तमेन हीन एक से रहित हो द्वाभ्याम हीन से त्रिवीरवाहिन से एक से के अभाव दो के अभाव तीन से एक अभाव हो जाए प्रिय होने पर भी राम में तपन नहीं होगा तथा परिणाम पक्षम वाक्य मात्र तथा भविष्य जो परिणाम से हित है हित है तो प्रिय नहीं हो सत्य नहीं हो अनुद्वेकर नहीं हो क्योंकि परिणाम जब हित है वो भांग एक वाक्य जितने भांग में तप हो जाएगा ऐसे संक्रांति नहीं क्या तथा हितवाक्य हित होने पर भी परिणाम से हित होने पर भी यदि अनुद्वेयकर नहीं है सत्य नहीं है प्रिय नहीं तो भी प्रयोग नहीं करना चाहिए गांग में तक इतरे शाम अन्य तमिल तमिलभ्याम त्रिवीर्वाभित अन्य में से एक से रहित दोष रहित तीन से रहित हो तो नौ भांग में तपस्या कीदृग तरी तपो भांग में यदि प्रश्न पूर्वक विषय रही तो वांग में तप तो कैसा है प्रश्न कर स्पष्ट करते भाष्य में किम पुनः तपो वो तप क्या है वांग में तप यद सत्यम वाक्यम अनुद्वेकरम प्रियहितम च जो सत्य हो अनुद्वेकर हो और प्रिय हो हित हो तत्परम तप वांग में वही परम तप है ऐसे विचार करके देखेंगे तो शब्द प्रयोग ही नहीं हुआ और स्वल्प ही शब्द अपने आप ही मौन हो जाएगा ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए जैसे क्या कहेंगे विशिष्ट वांगमय तपसी दृष्टान्त मा वांगमय तप के लिए दृष्टान्त कहते ऐसा शांत भव वत्स योगम च अनुतिष्ट तथा से शांत हो जाओ स्वाध्याय अभ्यास करो योग अनुष्ठान करो कल्याण होगा बस ऐसे शब्द है उसका अतिरिक्त कुछ शब्द नहीं होगा क्योंकि प्रिय होना चाहिए हित होना चाहिए अनुद्वेकर होना चाहिए सत्य होना चाहिए को तो मिला करके शब्द प्रयोग करने के लिए शब्द बहुत कठिन इसी प्रकार शांत होकर के स्वयं भी ये मौन हो जाता है ऐसे शब्द प्रयोग करना वांगमय तो इसके बिना शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए शांत रहना चाहिए आगे भाष्य में साध्याभ्यसनम वो स्वाध्याय का अभ्यसन यथा विधि वांगमय पूछे स्वाध्याय का अभ्यास करना जिस शाखा के अंतर्गत जो है उसी शाखा का स्वशाखा का आवृत्ति शाखा की आवृत्ति रोज अब गुरुकुल में जाकर करने के बाद फिर उसका अभ्यास उसमें नियम है यथाविधि का यथाविधि कैसे विधि अनतिक्रम है विधि के अनुसार स्वाध्याय अभ्यसन करना पड़ता है पवित्र पाणित्व इत्यादि विधानम अनतिक्रम है हाथ हाथ पवित्र होना चाहिए शास्त्र चिंतन अध्ययन करते समय हाथ पवित्र तो तो होना चाहिए मुख में लगाया पैर पाद छुआ अशुद्ध हुआ ऐसे अनुसार हाथ शास्त्र स्पर्श नहीं करना चाहिए पवित्र पानी छुआ प्रांग मुखत्व तो आदि विधान है वेद अध्ययन के लिए स्वाध्याय के आवर्तन अपनी वांग में तपस्या अंतर्भवती स्वाध्याय के आवर्तन शाखा का आवृत्ति इसकी आवृत्ति ये भी वांग में तप ऐसे कई स्वाध्याय अध्ययन करते ग्रंथ अध्ययन गीता आदि शास्त्र चिंतन ये सब भाग अध्ययन जो पाठ है चिंतन नहीं पाठ है भाग में प्रसन्न अंतर्भूत है वाघ प्राचुर्य न प्रस्तुत अस्मिनित वांगमय वाघ प्रधान उसको वांगमय तब क्यों कहा वाघ प्राचुर्य न अस्मिन प्रस्तुत प्रचुरत वाघ इसमें प्रयोग होता है वाह का इसलिए वांगमय अर्थात वाघ प्रधान नहीं कि केवल वाघ से होता ही अर्थ नहीं मन के बिना बुद्धवा शब्दान प्रयोग से शब्द प्रयोग कर लिए मन से विचार होता है शब्द इंद्र सब का प्रयोग होता है तो वाक प्रधान है ओम शो मित्र सं वरुण शन्नो भवत्वर्यम शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु